जोइ तनु धर तज पुण्यं पुनि अनायास तन पट पहिरहि नर परिहरहि पुराण शिवराखी नीति अरु नहि पावा क्लेश एहि विधि धरऊ विविध तनो ज्ञानन गय खगेश हे हरिवाहन मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है शिवजी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया इस प्रकार हे पक्षीराज मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया जगदेव नर जो तन धरऊ तह तह राम भजन अनुसरऊ एक सूल मोहे बिसरन काऊ गुरु कर को मल शील सुभाऊ चरम देह द्विज कै मैं पाए सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाय खेल तहु बालकन मेला करऊँ सकल रघुनायक लीला तिरक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहाँ वहाँ उस उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता इस प्रकार मैं सुखी हो गया परंतु एक सूल मुझे बना रहा गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया यह दुख मुझे सदा बना रहा मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता प्रौढ़ भरे मोहे पिता पढ़ा झ सुनौ गुनौ नहि मन मनते सकल बासना भागे केवल राम चरण लय खगे सयस कवनय भागे सेवा सुर धेनु त्यागी प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाये हारे वो पिता पढ़ाए पढ़ाए सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे मैं समझता सुनता और विचारता पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई हे गरुण जी कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए भय काल बस जब पितु माता मैं बन गया वो भजन जन त्राता जह जह विपिन मुनीश्वर पाव आश्रम जाए जाय सिर बोझहु तिन्ह राम गुण गाहा कहाँ ही सुनहु हर सित खगना सुनत फिरऊ हरे गुणयनुबादा अव्याहत गति शंभु प्रसाद जब पिता माता कालवश हो गए मर गए तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता हे गरुण जी उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति जो थी अर्थात मैं जहाँ चाहता वहाँ जा सकता था छोटे बित्रिविध इस नागाढ़ लाल साऊरयती एक बाढ़ी राम चरण बारिज दे देखो तब निज जन्म सफल कर लेखों जही पूछऊ सोए मुनियस कह ईश्वर सर्व भूतमय अहे निर्गुण मत नहीं मोहि सुहा सगुण ब्रह्मरति उरयधिकाई मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी गुर के बचन सुरत करे राम चरण रघुपति रघुपति गावत फिरौ छन मेरु शिखर बट छाया मुनिलो मस आसीन देख चरण बचन वचन अति दीन गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे सुनी मम बचन विनीत मृदु मुनि खगराज मोहि सादर पूछत भय विजयाय केहि काज तब मैं कहा कृपान कृपाधे तुम सर्वज्ञ सुजान सगुण ब्रह्म मोहि कहु भगवान हे पक्षीराज मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे हे ब्राह्मण आप किस कार्य से यहाँ आए हैं तब मैंने कहा हे कृपानिधि आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं हे भगवान मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए